अब्दुल्ला साहब आजमगढ़ से जो तशरीफ़ लाए उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती खिताब से हमें मुस्तफ़ फरमाएं ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في पढ़े लिखे हैं उसमें कोई डॉक्टर साहब है कहेगा कि हम कोई हदीस सुना देंगे हदीस का समुंदर एक मरतबा कोई देख ले तो इन उसकी ये बात तो मैं हदीस सुना दूंगा कान पकड़ के दो चार चाटा उसके मुंह में लगाया इसलिए कि जो हदीस चुनेगा उसके खिलाफ भी हदीस मिलेगी और उससे सही मिल सकती है उसने चुना है तो अपने इश्तहार से चुना है तो अब वो आइम्मा की तकदीर छुड़ा करके अपनी तकदीर करवाना चाहता आप मुख्तर में इस बात को समझ लीजिए कि तकदीर से किसी को चारे का नहीं है और आज़ाद होकर के हदीसों का मताना करेगा आयतों का मताना करेगा तो न सहाबा के अखबार से मुजैन किया न उसकी तफसीर तफसीरों में देखा न बड़े बड़े कराम ने इसकी तफसीर क्या फरमाई वो देखा तो जो उसके मन में आएगा वही अपने मन से बोल देगा और तफसीर भी राय हो जाएगी कहेगा कि मैंने कुरान से कहा है और हदीस से कहा है और वो गुमराह करेगा ये सारी मुहिम इसी बातें चल ही रही है कि जितने अमय मतबरीन हैं उनकी तफासिर है उनके बयान किए हुए मानी है इन सब को हटा करके अपनी आज़ादी के मुआफिल लोगों को ले चला जाए और उनकी तकदीर से हटा करके अपनी तकदीर करवा ली जाए इनकी फिक्र को ख़त्म करके अपनी फिक्र राइज की जाए ज़्यादा बड़ी खामोशी के साथ इन्होंने फिक्र के मजमूए भी तैयार कर वास्ते इस बात को समझ लीजिए कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हर हाल में कुछ नहीं पड़ेगा दूसरी बात यह अर्थ करनी है कि ये कहते हैं कि हम सिर्फ हदीस मानते हैं हदीस में जो नहीं उसको हम नहीं मानते तो आप उनसे कहिए कि साहब हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सिर्फ जो है चार सवारियों पर सवार हुए हैं एक घोड़े पर एक गधे पर और एक खच्चर पर और एक ऊँट के ऊपर सवार हुए हैं और आज के ज़माने में अलहमदिल्ला ये सारी सवारियाँ दस्तियाब हैं ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं है आप उनसे कहिए मोटरकार पर चढ़े तो प्लेन पर चढ़े तो और ट्रेन पर चढ़े तो कहिए कि साहब हम चढ़ने नहीं देंगे पहले तो कोई हदीस ले आओ अल्लाह के रसूल प्लेन पर चढ़े हैं ट्रेन पर चढ़े हैं टाटा सफारी पर चढ़े हैं तब हम चढ़ने देंगे वरना चढ़ने हम नहीं देंगे आपको हदीस लाइए और नहीं तो साहब उन्हीं घोड़ों पर गधों पर खच्चरों पर पर सवार होकर चलिए ताकि सारा जमाना जान जाए कि हम यू उलमाए वाले अजीज जा रहे हैं दो बात हो गई तीसरी बात आपके सामने ये अर्ज करनी है कि जब ये गैर मुकलद हो ही गए तो हर आदमी अपने मन का मालिक है इसलिए जिसके जो समझ में आएगा वो वही कहेगा चार उलमा है तो चार किस्म की बात करेंगे और चारों का अलग अलग इश्तहार भी होगा और जो इनके तकफीर की दूसरों को काफिर कहने की आदत पड़ गई है तो ये हम ही को सिर्फ नहीं कहते ये अपने भी ओलमा के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं उनके मौलाना सनाउल्ला साहब अमृतसरी हैं उनकी तफसीर सनाई जब आई तो उन्हीं के बड़े बड़े ओलमा ने उनको सिंदीर बदीर एक नंबर का मुशरी काफिर मुर्तद नेचरी पता नहीं क्या क्या कह दिया है आदत पड़ी हुई है जिधर दिमाग घूम जाता है उधर बोलने की आदत है बक बक बोलना शुरू कर दिया करते हैं ज़्यादा जितनी मुंह उतनी बात अब एक आदमी मदीना रिटर्न होकर के आया था एक बाजार में जा रहा था एक लड़की पर नज़र पड़ गई बड़ी अच्छी लगी उसको मौका निकालते निकालते उसे धीरे धीरे पूछ लिया कि तुम्हारी शादी हुई है कहा कि हाँ शादी हुई है का कैसे हुई का भाई जैसे होती है दो गवाहों की मौजूदगी में हुई कौन कौन गवाह है तो कहा कि तफजुल हुसैन तकदस हुसैन ये दो आदमी थे गवाह कहा वो मैं जानता हूँ उनको वो एकदम दाढ़ी मुंडे फांसी किस्म के हैं तुम्हारा निकाह नहीं हुआ आदिश के खिलाफ हो गया तो कहे तब मैं क्या करूँ कहे तुम्हारा निकाह ही नहीं हुआ जब भी सुना ना मौना कहते कि इतनी इतनी बात तो कहते को नमाज ही नहीं हुई आमीन जोर से नहीं बोले नमाज नहीं हुई रफातह नहीं किया नमाज नहीं हुई सूरह नहीं पढ़ा बानू का नमाज नहीं हुई दूसरे भी कहते तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तब क्या हो कहा कि हुआ नहीं कहा कि तब निकाह तो कर नहीं है कहा कि अच्छा मुझको किसी लायक समझो तो ना तो मुझे से हो जाए अब उसके बाद सब तैयार हो गई कहा कि अच्छी बात है अब गवाह जो आए एकदम हदीस के मुआफिक अब एक एक मीटर दाढ़ी वाले साहब यहाँ से लेके वहाँ तक अब इनके गवाहों गवाही में हो गया उनका निकाह उसके बाद कुछ दिन रहे सहे फिर लड़की बाजार में निकली किसी काम से एक तीसरे कोई रिटर में आ गए उनसे नज़र लड़ गई उनको बड़ी पसंद आई तो पूछा तो बड़ा निकाह हुआ है कहा कि हाँ हुआ है दो दो वो हुआ आ, क्यों दो वो हुआ कहा कि इसलिए कि हदीस के खिलाफ वो हो गया था कैसे कैसे क्या हुआ तो कहा बड़ी दाढ़ी वाले आए उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ इसलिए दो बार करना पड़ा उन्होंने पूछा कि क्या तुमने वली से पूछा था आपने कहा कि नहीं कहा एकदम हदीस के खिलाफ हो गया हदीस शरीफ में आता है कोई भी औरत अगर अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर ले उसका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हदीस शरीफ में है तो तुम्हारा निकाह तो हुआ नहीं हदीस के खिलाफ हो गया कि या अल्लाह अब कैसे क्या हो वो सब भी तो वाले हदीस ही थे हदीस ही सुना सुना के हमने दो मर्दों निकाह करवा लिया तो कहा कि भाई मैं भी तो वाले हदीस ही हूँ घर आऊँगी हदीस शरीफ में आया हुआ है कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ वली से तुमने नहीं पूछा तब क्या हो किसी लायक मुझको समझो तुम तो मुझी से हो जाएगा पता चला कि वो तैयार हो गई उनसे भी दिखा करने को अब तीसरी मरतबा निकाह हो रहा है फिर रहने सहने लगे फिर किसी काम से बाजार से निकली तो लड़की बड़ी खूबसूरत थी शोले चौवाला आफत की परकाला थी वो अब साहब किसी और चौथे दिन से मुलाकात हो गई नज़र जो ही लड़ी सब तो, तो होता ही ऐसा है अरे किसी ने कहा ना नैन लड़ गई है तो मनवा माँ खटक हो बैकरी हो गई खटक पैदा मौका निकालते निकालते खसकते खसकते वो भी पहुंच गया उसके करीब पूछा है तुम्हारा निकाह हुआ है कहा कि जी तीन तीन मरतबा हुआ क्या कैसे क्यों तीन मरतबा कहा हर हर मरतबा असल में हदीस के खिलाफ होता चला गया इसी वास्ते उसने भी पूछा कैसे क्या हुआ तो कहा कि पहली मरतबा गवाही नाम हो तो मरते हदीस के खिलाफ दूसरी मरतबा हदीस की मुआफ़ी का थे बहुत हदीस छूट गई थी उसकी वजह से वो निकाह नहीं हुआ इसलिए तीन मरतबा करना पड़ा तो उन्होंने कहा कि बताओ ऐलान करवाया था दो बजा बजा के ऐलान करवाया था कहा कि नहीं तुम्हारा निकाह नहीं हुआ हदीस के खिलाफ हो गया हदीस में आल इसी तरह वो दूसरों को भी गुमराह किया करते हैं कहते हदीस में है और उसके बाद शुरू कर देते आपका मसला बयान करना धन हो न हो इल्म हो कि न हो मगर ये कि साहब करेंगे ऐसा ज़रूर हो इसलिए अब नतीजे के तौर पर बज़ाहिर तो सभी ने हदीस के ऊपर अमल किया मगर हकीकत में गौर करिएगा तो गैर मुकल मर्द एक नंबर का बदकार जिनाकार फाहिर और उनकी औरतें बदकार जिनाकार नहीं हुई तो और क्या हुई आप अंदाज़ा कीजिए मुबारकपुर के करीब एक गांव है इसका नाम अमीलो है वहाँ पर हज़ारों हज़ार जमा हुए पूरा ऐलान हुआ था कि अरे जब जमा हो जाओ बहुत बड़ा एक कुआं था सब उसी पर जमा किया क्या बात है भाई हनुमान जमा करने का ताकि एक हदीर मर गई है उसको जिंदा करके सौ शहीदों का सवाल देना है इसलिए साहब हदीस मर गई थी अब सब जमा हो रहे जमा हो रहे बेशुमार आदमी जमा हो गए मारे बिल्ला लगा लगा कर ये का है चल ढाल रहे हैं साहब ये खरीद मर गई ये जिंदा करना है चुनाचे अब उसके बाद काम उनका क्या हुआ रेजाकारों का उनके सामने देखा कि बहुत बड़े बड़े बोरे ला के रखे गए का क्या काम है कागजा खेतों में चले जाओ सुबह सुबह तमाम लोटा लेने के लोग गए होंगे तो जो हासिल नतीजा होगा जो खेत में पड़ा होगा वो सब का सब बोरा में भर भर के ले आओ उसके अलावा हैज के कपड़े सूअर के पैखाने और गंदगियाँ जितनी भी मिल सके कुल बोरा में भर भर के ले आओ ऐसा मनु जो है गंदगियाँ इकट्ठा की गई इकट्ठा करके सब जमा किया गया और उसके बाद ये सौ पच्चीस की बात है किस्सा नहीं बयान कर रहा हूँ किया इन लोगों ने बहुत बड़ा बांस लाया लाज रखा गया ये होगा कि क्या होगा भाई बांस का है वो आया है समझ में सब बात में आ गया उसके बाद जो बोरों में सारी गंदगियाँ पता नहीं कितने टन जो है आई थी सबका मुंह खोल खोल के टिका टिका के पकड़ पकड़ के कई कई आदमी मुंह खोल के खुद कुआ में डाल रहे डाल रहे साहब मार गंदगियाँ डाली अब उसके बाद कई आदमी मिल के बांस कुएं में डाले अब मिल करके उसी बांस से पूरा पानी हिला रहे हिला हिला हिला के का जो है ना एकदम गंदगियों को पानी में मिला दिया और उसके बाद बाल्टियों से निकालना शुरू किया निकालते निकालते निकाल के गिलास रखे थे बेशुमार उनके गुमान के मुताबिक जैसे लगता है कि हौज कौशल के किनारे बहुत ज़्यादा रखे रहे होंगे आप सोरे वही कुछ इतफाक थे वो सब जमा किए होंगे अपने ख्याल से अब उसमें बाल्टियों से पानी निकाल निकाल के गिलास में भर भर के जो लगे पिलाने अरे साहब कहिए मत कितने शौक शौक कहा कि पियो सौ सौ शहीदों का सवाब मिलेगा अभी शरीफ में है कि कभी गंदगी से पानी नापाक नहीं होता ऐलान कर के सुना रहे थे पानी पाक होता है उसको कोई चीज़ नापाक नहीं करती हदीस तो एकदम सही है उसमें कोई शुभा नहीं मगर हदीस के माना बयान करने वाले माशा ऐसे ही मिल जाए तो सब लोग हिदायत पर आएंगे गुमराही को चले जाएंगे आप अंदाजा कीजिए इसलिए इनके बारे में ये कहना एकदम सही है कि एक आदमी ने गधा पाल रखा था और उसको ट्रेंड किया कि अपना सर सिर्फ ऊपर नीचे हिलाएगा दाएं बाएं नहीं हिलाए एकदम पक्का कर दिया कोई दाएं बाएं हिलवा ही नहीं सकता था उसने इनाम रख दिया पाँच हज़ार रुपये का और कहा देखो जो हमारे गधे का सर दाए बाएँ हिलवा दे उसको पाँच हजार रुपये का इनाम बड़े बड़े माहरीन आए बड़ी मेहनत किया मगर कोई हिलवा नहीं सका पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा माहिर आ गया उसने कुछ कहा नहीं बल्कि गधे के करीब जा कर उसके कान में कुछ कह दिया और लगा देने पाए हिला ने मालिक आया पूछा कि भाई क्या कह दिया था पाँच हजार रुपया कहा कि देखो मगर कम से कम बता दो, तो दो कि तुमने कान में कहा क्या है का कोई ख़ास बात नहीं सिर्फ इतना ही पूछा था कि तुम गैर मुकद बनोगे समझ का यही हाल तो क्या हुआ हम लोग यहाँ पूरी खाई जाते पूरी गोश्त उसमें डाल करके कीमा छान दिया जाता है तो पूरी है एकदम तो पूरी है अब आपको सार में लगा लगा के नहीं खाना है वही खाइए पेट भर जाएगा पहले एक रुपए की एक मिलती थी तो एक गैर मुकलद के होटल में पहुंच गया पी और तीन पूरी खाया अब पैसा दे रहा है तो एक रुपया वो कह रहा तुमने तीन न खाया है तीन खाया तो क्या एक मजलिस में न खाए हैं इसलिए शिकायत कर दिया वो चपरासी ने मुझको पचासों गाली दी है हमारे मौलाना साहब से इंतकाल हो गया अल्लाह मफर फरमाए बोले मुश्ताक साहब नाम था उनका वो तकरीबों में तो खूब लतीफ़े सुनाया करते थे एक मरतबा सुनाया उन्होंने कि एक जा रहा था एक, एक औरत ने घर के दरवाजे से बुलाया कि मोदी साहब हे मोदी साहब कहा अरे ये कुरुआ की माई क्या कर दी कह अरे कोई पानी नहीं पड़ देते पेशेवर के बारे में कहा खाली बोलते रहते हैं खाली बोलते रहते हैं अरे कोई इधर था पानी पढ़ दीजिए कहा कि लाओ बोतल बस पढ़ दिया कहा कि जब तक तुम्हारे शोहर घर में रहे ना ये पानी अपने मुंह में लिए रहना है इन उनकी बोलती बंद हो जाएगी कई रोज के बाद वो गुजरे तो कहा कि हे या गुबुआ तो की माई अरे फायदा है कहा कि अरे मोदी साहब जब से पानी दिए आप ना तब तो उनकी बोली बंद हो गई है तो इन्होंने कहा कि ये बताओ कि पानी जो तुम्हारे मुँह में रहता है कि उनके मुँह होगा कि इसी का कसूर ज़्यादा था इतफाक वो भी वहाँ बैठे हुए थे जब बुला के चपरासी को पूछा कि तुमने इतनी गाली दी है ताकि जी नहीं एक गाली दिया है झूठा कहीं का अरे बोले मुश्ताक साहब बैठे बुला के पूछ लीजिए तो उनको बुलाया गया तो कहा कि ठीक ठीक बताइए अंदाजन कितनी गाली दिया होगा इसने तो कहा कि एक गाली दिया है तो वो कहते हैं मदर रुसवा कर रहे हैं जो कहा जितनी गाली दिया कम से कम अंदाजन बताइए मेरा ख्याल है कि पचास गाली दिया होगा आगे क्या हुआ पचास गाली दिया तो एक ही मजलिस में दिया है ज़्यादा एक गाली समझी जाएगी क्यों पचास मारेंगे आप साहब इनका दिमाग कुछ इसी किस्म का है हर आदमी आज़ाद है इस वास्ते जो है ना इनको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मगर इनकी जितनी दावत है हर आदमी पढ़ा लिखा कम से कम महसूस कर सकता है तो कुरान और सुन्नत के समुंदर में हर आदमी धनी करने के लायक होता है कि धनी करेगा आप जान लीजिए शुरू से लेकर के आखिर तक अभी मौलाना बयान फरमा रहे थे कि के नाम से ऊँची जमात तो कोई और नहीं हो सकती है अम्बिया नाम के बाद कोई उन्हीं का मकाम है मगर के नाम का मताल आप करिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि सौ से कुछ जायद उनमें नहीं बाकी मुख्तियार कराम नहीं थे बाकी कुल साहब कराम उन्हीं हजरा से फतवा पूछ पूछ करके अमल किया करते थे और साहब कराम के ज़माने में माहौल फैल गया था बहुत ज़्यादा नए नए मसाइल पैदा हो रहे थे उन नए मसाइल में ये लाउड स्पीकर ही है आप देखिए तो कोई हदीस मिलेगी उनसे पूछोगे हदीस लाओ कि लाउड स्पीकर में बोलना चाहिए तो वो हदीस नहीं लाएंगे कहीं ना कहीं तो मसला निकालेंगे ज़रूर तो जो निकालने वाला है सेहरा उसी के सर जाता है जब कोई कहेगा भाई चाहे किसने कहा इसको अगर फोला साहब ने अगर बड़ी अच्छी बात कही है आपने मान लिया उसको तो ये आपने तकदीर ही किया है कुछ और नहीं किया है दोस्तों उनको करते सब हैं उनके मदरसे में मुफ्ती एक ही न रहता है अब कोई सवाल करता है तो जाता है पूछने वो जवाब दे देता है जो वो लेके चला आता है तो वो तकलीद शख्स नहीं करता है करते सब है मानते नहीं हैं ऊपर ऊपर सिर्फ झगड़ा करते रहा करते हैं इसलिए सहाबे राम में बड़ी मिसालें मौजूद हैं आप जानते हैं कि जितने खुलफाए राम थे वो अकेले अकेले खलीफा न थे और सारी उम्मत जो है उन्हीं की बात मानती थी तकलीफ किया करती थी तो अल्लाह के रसूल सलाम के बाद जो आपके खुलफा हुए बराबर और उन खुलफा के ज़माने में दुनिया भर के नए नए मसाइल पैदा हुए उन मसायल का जो हल निकाला उन हजरात ने तो सब के सब सहाबे राम की तकदीर करते थे और कोई भी इसके ऊपर तकदीर नहीं किया करता था जब हजूर पाक सरकार दो आलम जनाबी मोहम्मद मामला आप खूब जानते हैं अच्छी तरीके से ये माज में जबल नदी रजी की हदीस इंतहाई मशहूर है अब कोई भी मुआफिक हो मुखालिफ हो इसको इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता है इतने से ये हदीस मरवी है कि उसको सही ही मानना पड़ेगा अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस है जा रहे सवारी पर सवार थे अल्लाह के रसूल पैदल उनकी उनकी उनका साथ दे रहे थे जहाँ से रुखसत होकर के वापस आना था वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने कुछ बातें उनसे कही और हम लोग यहाँ मौके की मुनासिबत से उतनी ही बात नकल करेंगे मगर ये बहुत सारी बातें और भी आपने उनसे इशार करवाई थी हम उनसे ये पूछा था कि जा तो रहे हो और लोग तुमसे मसाइल पूछने आएंगे तो तुम कैसे फैसला करोगे कुल कुरान हदीस में क्लियर होता हर मसला क़यामत तक का अगर बयान कर दिया गया होता तो जाहिर बात है कि जब भी ज़रूरत पड़ती कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो कुरान करीम खोलता और उसकी फहरिस्त देखता अरे साहब एक दुकान किराए पर लेना है और जो बाली दुकान है एक लाख रुपया हमसे तो पगड़ी मांग रहा है ऊपर से और किराया अलग से लेगा सिर्फ पूंजी देने का एक लाख रुपया मांग रहा है तो आया ये बयान किया गया होता अल्लाह ने बयान कर दिया होता या कुल रसूलुल्लाह ही ने बयान कर दिया होता तो कुल फहरिस्त तो बना के हमारे सामने होता निकालते वो सफ़ा और वो मसला मिल जाता मगर अफसोस की दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा पुराने पाक में अंदर अंदर मसाइल बेशुमार हैं मगर निकालने वाला चाहिए वक्त और हालात के तकाजे के मुताबिक वक्त का मुस्तहिद उसमें से मसाइल खोज खोज के निकालता है फिर हमारी असलों के अंदर मौजूद है कि आदमी मसला अगर हमारे से कहीं किताबों मिल जाए तो ठीक है और कोई उस मसले की नज़ीर मिल जाए तो ठीक है इसको उसके ऊपर प्रयास करके दोनों को एक मसला बना देंगे मगर अगर नज़ीर भी ना मिले कोई ना मिले तो ऐसे मौके पर हम लोग खुद कहा करते हैं कि फिर असल माखिद से क्या करें वो रुजू करें पहले किताबुल्ला में देखें कहीं से इशारे के राय से अगर आपको उस मसले की तरफ रोशनी मिल जाए तो उसके मुताबिक फैसला करिए उसमें न मिले तो किताब की किताब सुनत रसोल्ला में देखिए में ना मिले तो फिर इजमा में देखिए और इजमा भी ना मिले तो आप प्रयास के जरिए उसका मसला निकालिए इस बुनियाद पर आप इनसे पूछ सकते हैं कि इस जमाने में एक लाख रुपया बिल्कुल अलग से मांग रहा है अब बताओ कुरान में कहीं ये मसला है अधिक में कहीं ये मसला है अब जो मुस्तहिद वक्त का हल करेगा इस मसले को और कुरान सुन्नत के इशारों से अगर आप बता देगा कि चलो बड़ी मजबूरी की बात है एक लाख रुपया दे देने में कोई हरज की बात नहीं है मिसाल के तौर पर ये मसला बयान कर दिया आपने उसकी बात मान दिया इसी को बोलते हैं तकदीर आपको कहीं ये शिरक दिखाई दे रहा है ऐसे कुफ्र दिखाई दे रहा है आप अंदाजा कीजिए कि ये लोग कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि सहाबे के नाम के ज़माने से लेकर के इस वक्त तक बड़े से बड़े मुहदसिन बड़े बड़े सूफिया के नाम जो अपने फन के बड़े बड़े के नाम हैं उन्होंने भी तकलीद की है आई मैं आलमा का इतना बड़ा इल्म है इतने बोल्ड है इतने ज़बरदस्त है वो कि बहुत से आदमी इल्म में पिंदार हुआ करता है खुद बहुत खुददारी होता है तरफो हुआ करता है अगर किसी को अपने से कुछ मसला आएगा तो खाक नहीं किसी की तकलीफ करेगा दोस्तों बुजुर्गों मगर आपको जानना चाहिए ये बड़े बड़े कराम हदीस के सब के सब किसी न किसी तबके में शामिल है और जितनी किताबें लिखी गई हैं में लिखी गई है तबक़ात हनफिया में तबक़ात शाफिया में तबक़ात मालिकिया में तबक़ात हमबलिया में इनसे पूछो कि अगर दुनिया में तुम कहीं थे तो ज़रा अपने तबके की एक किताब दिखाओ ऐसी किताब भी लिखी हुई इस नाम से तबक़ात गैर मुकलदियत है ना इन एक फूटी कौड़ी नसीब नहीं होगी ये थे ही नहीं दुनिया में इनके मुतल कोई तबके की किताब कैसे लिखी जाती इसलिए जो आल इल्म है वो समझते हैं कि खुद इमाम बुखारी रहमत को भी नवाब सिद्दीक हसन खान ने तबक़ात शाफैया में लिखा है इनके कुफर और शिरक की जद कहाँ कहाँ बढ़ती है ये बुखारी को भी गोया मुशरक कर रहे हैं मुस्लिम को भी मुशरक कर रहे हैं और इमाम नजई को भी मुशरक कर रहे हैं इमाम दाऊद को भी मुशरक कर रहे हैं इमाम तिरमिरी को भी मुशरक कर रहे हैं और इमाम इबन माजा को भी मुशरक कर रहे हैं इस बात से सब लोग मुकलद ही मुकलद थे इसमें ज़रूरत बराबर सबको सुबह की बात नहीं है जुज भी किसी किसी मसले में किसी का इश्तहार करना उसको मुस्तहिद मतलब नहीं बना देता है इसको भी याद रखिएगा हम लोगों ने इमाम मोहम्मद रहमत और इमाम अबू यूसुफ रहमत इसमें कोई शुभा नहीं है कि इमाम मोहम्मद रहमत इमाम शाफई के उस्ताद हैं मगर वो तो आप लोग मुस्तहिद मतलब कहते हैं मगर इमाम मोहम्मद रहमत को हम लोग मुस्तहिद कहते हैं मगर एक दर्जा नीचे का मुस्तहिद फिल मजहब यानी जो उसूल इमाम अबू हनीफा रहमत ने बनाए हैं उनमें वो भी तकलीद करने वाले हैं लिहाजा इसमें भी मुकलदीन में नीचे ऊँचे दर्जात बहुत हैं इसमें कोई शुभे की बात नहीं है कोई शुभे की बात नहीं है मगर ये कि दर्जा बदर्जा मुस्तहिद भी होते एक ही वक्त में और एक ही वक्त में मुकलद भी हुआ करते हैं अभी मौलाना ने आपके सामने इमाम जालुद्दीन सयूदी रहमत का जिक्र किया था और ये कि इमाम महल्ली ने जो किताब लिखी थी जलाल की जल, जल तफसीर कुरान पाक की तो उसमें इमाम सयूदी रहमत शुरू शुरू में लिखते हैं अलमामुल मुहक्क और आखिर में लिखते हैं अशाफ इमाम जो है बड़े महक्क है यानी मुश्तहिद बड़े मुदक्क है बड़े पारी भी बड़ा गहरा उनका इल्म है और उसके बाद लिखते हैं कि शाफी यानी मुकलद यानी यानी मुकलद बतलाइए तो एक मकतबे कि जुजवी जुजवी मसाइल में कोई अगर तहदीक कर भी ले तब भी वो तकलीफ से निकलने की अहलियत नहीं रखता है और ये जो तसवुफ के चारों अम कराम हैं ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत वगैरह ये सब भी इन्हीं चारों में से किसी न किसी के मुकदर हैं इतने बड़े बड़े इम कराम को ये जाहिर जबर मुँह चिढ़ा रहे हैं और कहते के साथ जो तकलीफ करेगा वो मुशरक हो जाएगा तो साहब कराम लगा दिया और इनसे कोई जरा बराबर भी आप मुतमिन मत होइए इस वास्ते कि ये अंग्रेज़ों की गोप से पैदा हुए हैं ये उन्हीं के मिशन को पूरा करते हैं और मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करते हैं और ये लोग भी मुसलमानों को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकने की मेहनत में उन्हीं का ताउन कर रहे हैं और जब से ये लोग पैदा हुए हैं अंग्रेज़ों के, के जन्म से निकले उसी वक्त से ही उनका साथ दे रहे हैं करते थे उन्हीं के जेरे साया अपना वक्त गुजार रहे थे और जो जिहाद हुआ है अंग्रेजों से इनमें से एक आदमी भी शरीक नहीं था बल्कि बड़े फख्र से ये लोग कहा करते हैं ये नवाब सिद्दीक हसन खां वगैरह ये अंग्रेजों के हड़बोम में गदर में एक भी मुतबयान मुतबयान हदीस नहीं थे बल्कि जितने भी गदर में हिस्सा लेने वाले थे कुल के कुल मुतबयान मजहब हनफी थे पैदा करने वाले कौन है अगर उन्हीं का मिजाज दे करके ये चूँकि अंग्रेज़ों का, का मतलब था कि झगड़ा कराओ हुकूमत करो लड़ाई कराओ इख्तलाफ डालो फूट डालो और हुकूमत करो और वो जिन लोगों ने दुश्मन लोगों से मुकाबला किया अंग्रेज़ों से जाहिर बात पूरी दुनिया में जितने भी दुश्मन इस्लाम है वो कुल के कुल मुसलमान अगर समझते हैं तो हम उलमाए देवबंद ही को समझते हैं मालूम होना चाहिए अजती लड़ाई दुश्मन इस्लाम पे आज हम लड़ रहे हैं कुल उलमाए देवबंद ही है कोई दूसरा नहीं है इनको तो कोई मुसलमान समझता ही नहीं है इसी तरह दीगर और फील्डें जो है कौन उनको पूछ रहा है पूछने लायक तो हम ही लोग हैं हमारे ही मदरसों पर उनका हल्ला ऊपर हल हमला हुआ हमारे ही मदरसों को वो लोग दहशतगर्दी का अंडा अड्डा कहा करते हैं लिहाजा तुमको कोई पूछने वाला भी है मगर वो लोग चाहते कि जिन लोगों ने हमसे लड़ाई दी है उन लोगों को जड़ बुनियाद से उखाड़ करके फेंक दिया जाए लिहाजा उनका ये साथ देने के वास्ते बिल्कुल जड़ से यहाँ से लेकर के खुलफाए राशिदीन तक ही तरकीद कर डाले और वो बुरा बना कर डाले और उनको भी जहन्नमी बना दिया उनको महसूस तो के खिलाफ फैसले करने वाला लिख दिया उन हजरात ने इस बात में उनका मिजाज समझिए और बाद में चल करके आपको मालूम है कि मदीने के सात फुकहा थे जिनको फुकहा सहाबा कहा जाता है तमाम के तमाम लोग इन सात फुकहा की तकलीद किया करते थे ये नसर बाजर से चला आ रहा कराम ने बारी बारी करके अपने पहले के तमाम लोगों के फतावे वगैरह इकट्ठा कर लिए इस वास्ते किसी और के लिए कुछ बचा ही नहीं तो इन लोगों के दिल में हसद पैदा हो गया कि इन कराम की इतनी मकबूलियत कहाँ से हो गई है कि लोग इनके पीछे पीछे चल रहे हैं इस बुनियाद पर ये चाहते हैं कि अम अरबा की भी मुखालफत करें और उन साहब कराम की जिनसे इनके मतलब के खिलाफ रवायात रवायात मनकूल हैं उनके बारे में तो लिखी किया कि इनको रजी अल्लाह कहना भी दुरुस्त नहीं है हो हो हो हो और मुगीद इन तमाम के बारे में इनको ने लिख दिया कि रजी अल्लाह नहीं कहना है और अल्लाह ने सबको रजी अल्लाह अन हो कहा है मेरा ख्याल है कि वक्त ख़त्म हो गया होगा दादा ज़्यादा वक्त है भी नहीं बोलवा कराम बहुत ज़्यादा हैं मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी और एक हदीस पढ़ी थी उसका तर्जुमा कर इसीलिए मैंने कम पढ़ा ही था कि मुख्तसर ही बोल रहा है आपके सामने बहरहाल मैंने एक आयत पढ़ी थी फस अब इसको घेर फेर करके अगर कोई और माना पहना है तो कोई क्या करे आयत तो एकदम मोहकम है इस आयत में भी तकलीफ नहीं हो सकती है अल्लाह तला कहते हैं कि अगर तुमको नहीं मालूम तो जानने वालों से पूछ लो अब हमको यानी वानी करने की ज़रूरत है आपने सुन लिया तर्जुमा समझ में आ गया होगा अब इसके खिलाफ अगर कोई कहता है इस कलाम्पा की आयत को तस्लीम नहीं करता है मानता नहीं है तो बुजुर्गो में पाँच में एक नहीं कुछ नहीं तो बीस आयतें ऐसी मौजूद हैं कि जो आयतों का तर्जुमा करो आपको समझ अल्लाह रब्ज़त यही कहना चाहते हैं कि जिनको आता नहीं है वो जानने वालों से वो पूछे जो अहले इस्तीमबाद है जो तो इस्तीमबाद मसला निकालने के अहलियत रखने वाले और जिनको नहीं अहलियत है वो अहले इस्तीमबाद से उसका सवाल कर ले और पूछ लें और अल्लाह के रसूल ने फरमाया हदीस शरीफ में जो मैंने पढ़ी थी अल्लाह अल्लाह डरते रहो मेरे असाब के बारे में डरते रहो मेरे असाब के बारे में मेरे बाद उनको तनकीद का निशाना मत बनाना बहुत सही अदीज है आप खुदबे में आप सुनते रहते हैं तो पहले ही जुमले में आप समझ सकते हैं कि ये लोग हैं जो तनकीद करने वाले हैं अल्लाह के रसूल की हदीस की मुखालफत करके नाम चकचक रख दिया इतना मोटा हदीस अपना नाम रख दिया सबसे ज़्यादा हदीस की मुखाल और कुरान पाक के बहुत सारे हिस्सों का इनकार करने वाले यही और ऊपर से दावा इतना जोरदार मेरे साहब हम ही न जान पाने वाले कोई दूसरा जान पाने वाला नहीं दिल साहब कराम की इतफाक अल्लाह के रसूल हुकुम दे रहे हैं ये उन्हीं के ऊपर तनकीद की तीर चलाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नजात पाने वाले हम हैं आप जानिए कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि कौन नजात पाएंगे इन तमाम तिहत्तर फिल्कों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि माँ जिसके ऊपर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं तो मेरे सहाबा तो इजमा को हजत मानते हैं जिन पर मसाइल पर उन्होंने खुद इजमा कर लिया खुद सब का सब मानने वाले थे और ये इनकार करते हैं तीन तलाक की एक कहते हैं अरे दुनिया के किसी लोगों के तीर का तर्जुमा एक देखा है आपने ऐसी धांधली कि तीन तिहाई ये कई ये कहेंगे तीन तिहाई हम मनवाएंगे कि हमने सही कहा है दोस्तों उनको इस वास्ते इनकी उल्टी भक्ति को कोई तस्लीम नहीं करेगा अल्लाह के रसूल हदीर फरमाए कि मैं नहीं जानता कि मैं, मैं कब तक तुम्हारे दरमियान बाकी रहूँगा मेरे बाद तुम लोग अबू बकर उमर की इतबा करना ये तकदीर ही जो तो है अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं हिस्से का इनकार करने वाले और बेशुमार सही हदीसों का इनकार करने वाले ये लोग हैं उस पर से दावा करते हैं कि हम ही लोग नजात पाएंगे दोस्तों उनको आप खुद इंसाफ कर लीजिए कि कौन साहब पर है और कौन बादल के ऊपर है कुल सहाबा बीस पढ़ते हैं ये उनको बीदादी कहते हैं साहब कराम ने दो आजान जारी की तो उस्मान गनी को कहते हैं कि बीदती हो गए हैं अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है और बुद्धियों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जहन्नम में जाएंगे सोकर सोकर कहेंगे तो क्या जो है ये खिलाफ हो गया साहब कराम को ये बिदती का हुक्म दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि ये अल्लाह के रसूल की हदीस के भी मुखाल कुरान पाक की भी मुखालिफ हुई अल्लाह रबुल्ज़त इनके खूब से इनके शर से और इनकी बदतवीजियों से इनकी बदबानियों से हमारी हिफाजत फरमाए और राह मुस्तकीम के ऊपर कामजन रखने की हम सबको तोफ़ी रायत फरमाए वाखिर दावाना रबी